यह कह कर नक से चीर दिया अपना वक्षस्थल हनुमत ने कर दिया उस विस्मित क्षण भर में कपिदल जन मंडल हनुमत ने सुग्रीव विभीषण जाम्बुवंत सबको कौतुक सा बड़ा हुआ दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर बरसाने लगे सभा ही में श्री राम रसामृत गा गा कर रटोरे मन राम राम सिया राम रटोरे मन राम राम सिया राम रमा जो है हर ठाम बे राम राम सिया राम रटोरे मन राम राम सिया राम मण में फणी जो फण में मण जो तो जग में यह नाम रटोरे मन राम राम सिया राम रटोरे मन राम राम सिया राम भवसागर में गोता खाना नाम कमोती लाना भवसागर में गोता खाना राम नाम का मोती लाना पाओगे अविचल धाम रटोरे मन रटोरे मन राम राम सिया राम रटोरे मन राम राम सिया राम रमा जो है हर ठाम रटोरे मन राम राम सिया राम पड़े पुत्र परमात के जभी अमृत समनयन जो का त्यो तल हुआ मिला पूर्ण सुख चैन इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार प्रतिदिन रात प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार अंतरंग में एक दिन बोले करुणा से सुनो विभीषण बंधुवर सुनो भ्रात सुग्रीव कार्य सीम किया तुमने फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया कुछ अर्थ नहीं उसके समान इतना ऊंचा परमार्थ किया जिसके डर से अब तक न शत्रु लंका में पानी पीता है उस दस गंधर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है वध से उसके लंकापुर में पुराण शांति का शासन है फिर राज विभीषण ने पाया भीतर कुछ यह भी अनबन है, है यही गति किस कंधा भी रुक रही प्रगति जनता की है नंगद सुग्रीव यहाँ पर है रैयत सब बे राजा की है मैं बार बार यह सोच रहा अब किस प्रकार व्यवहार करूं प्यारों को ऐसे समय रोक जनता पर अत्याचार करूं लाचार कह रहा हूँ जाओ विद्रोही दल का दमन करो दो काट शांत शांत सर से नागरिक कष्ट का शमन करो इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर आ पहुँचे अंगद तभी जाम्बवंत के साथ तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ बस्ते के क्या बन भी शांत रहे ऐसा प्रबंध जब हो भाई रह चुके अवध में बहुत दिवस अब घर के भी सुधि भाई जाओ गृह को जो पर धन ध्यान रहे बैठे तुम रामालय में हो सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो जाम्बुवंत ने तब कहा सुनिए नाथ इन चरणों पर नवा है बार बार यह माथ यदि मन जाता समरस्थल में तो सच्चे शांत प्राप्त होती बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती यह जर जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा तुम्हें कहो सारा धन धाम तुम्हें तो हो फिर कहाँ जाएगा तुम्हें कहो पद पद्मों का प्रेमी भौराम कैसे परागरज छोड़ेगा इस पर ही जीवन रखा है इस पर ही जीवन खो देगा भाव भरे उस भक्त के सुने जभी यह बैन भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नैन अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया नैनों से भी करुणा जल का बंधता था तार नजर आया तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणा निधान हो गए विफल रोए उस उर चिप चिपटा चिपटा कर सुलझा कर सूत्र जगत के जो हर चरणों में आ जाएगा <clears throat> हरि उसके आगे ही मित्रों धागे से बधा दिखाएगा प्रभु बोले भक्त राज जाओ मुनि बनो मोह संवरण करो कर सहन सहर्ष वियोग वृथा आदेश राम का ग्रहण करो वामन अवतार प्रथम देखा रामावतार में साथ रहे द्वापर में फिर जब आऊं तो इन हाथों ही में हाथ रहे उस समय तुम्हारी पुत्री को निज महलों में लाऊंगा तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा इसलिए जाओ अगले युग तक मन में सानंद निवास करो मन में मेरा आराधन कर उस शुभ अवसर की यास करो मौन हो गया भाल पते मानो है स्वीकार अब अंगद बोला सुने मेरे भी सरकार मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया कर दिया भेंट इन चरणों में चरणों ने भी स्वीकार किया अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में चिंता हरण प्रभु क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में बोला भक्तों के भरण प्रभु अंगद के यह वचन सुन बेसे करुणा ऐन हृदय लगा कर प्यार से बोली ऐसे बहन किस किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है जनपति ही अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना जाता है राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज है पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है सीता तक अत्याचार प्रजा चुप रह रह कर सह लेती है अत्याधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है यो राज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो इस ओर राज्य का कार्य करो उस ओर प्रजा से प्यार करो तेजस्वी की बात को काट सका है कौन अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद वन के सब साथियों को विदा किया सालाद पवन तनय से विदा के कह न सके प्रभु बात राम रंग में रंगा था इतना उनका गात थी अनन्य उस भक्त की ऐसे कठिन मरोड़ जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़ मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन रहा अधूरा है उस अशोक वन के जननी का वरदान हो गया पूरा है छाया के भात साथ प्रभु के रहता वह मात दुलारा है यदि प्रभु है प्यारे के सम्मुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है नारद आए एक दिन करते हरि गुणगान क्षमा मांग कर साप की बीड़ा मितान जगत पति आज काना सदा शुभ हो सदा शुभ हो जगतपति आज कायाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो अवध के नाथ बन जाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो जगतपति आज कायाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो धरा का भार टाला है खलों को मार डाला है अयोध्या लौट कर आना सदा शुभ हो सदा शुभ हो जगतपति आज कायाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो विराजे आज दाए पर सो स्थित है बाए पर चवर हनु मत से डुलवाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो पति आज कायाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो अमन है आज दुनिया में चमन है आज दुनिया में अमन है आज दुनिया में चमन है आज दुनिया में दोबारा सबका सुख पाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो जगत पति आज कायाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो समय पर अब दृष्टि यह आया तो राधे श्याम बहुल साया समय पर समय अब दृष्टि यह आया तुराधी श्याम घुल साया हमारा आज का गाना सदा शुभ तो सदा शुभ हो जगतपति आज का आना सदा शुभ हो सदा शुभ हो अवध के नाथ बन जाना सदा शुभ हो सदा शुभ हो सदा शुभ हो सदा शुभ हो